ये विरोध की भाषा नहीं है सिद्धांत है कि वहां पर जहां निर्मल प्रेम है उस निर्मल प्रेम में विशुद्ध अनुराग में कहीं पर कोई दूसरा तत्व आ जाता है चाहे वो तत्व कितना ही ऊंचा हो तो तत्व वो खटाई बनकर उस प्रेम को फाड़ने लगता है तो इसलिए इसलिए स्वयं भगवान जो है वे बधे रहते हैं और बधे रहने में उनको सुख मिलता है ये बंधन सुख जो है ना ये केवल प्रेम नहीं और कहीं नहीं तमाम बंधनों में मनुष्य या प्राणी मात्र को क्लेश होता है कोई बंधन नहीं चाहता आत्मा का स्वरूप मुक्ति मुक्ति है सब एक चूहे को आप पिंजरे में बंद कर दीजिए वो छूटना चाहेगा मक्खी को हाथ में ले लीजिए और निकल के भागना चाहेगी पर जहाँ प्रेम बंधन है वहां कोई भी प्रेम बंधन से मुक्त होना नहीं चाहता ये कहता हमारा ये प्रेम बना गए तो ये प्रेम बंधन जहाँ भोजन होता है वहां प्रेम बंधन नहीं होता की नकल होती है वहां भी बदले रहना चाहता आदमी लोग मतलब क्या चाहते हैं घर में सब बदले रहना चाहते हैं लोगों से कहते हैं बोले क्या करें घर वाले छोड़ते नहीं घर वाले को आज छोड़ दें तुम आज काम से न रहो और घर वालों के लिए थोड़ा सा दुद्ध देने वाले बन जाओ घर वाले कहेंगे बच्चे तो इनके भगवान सुन ले तो बड़ा अच्छा है जल्दी मर जाए बड़ा अच्छा है घर वाले सब चाहेंगे और मैं अच्छी भाषा में कहेंगे बोले बहुत दुख बहुत दुख पाते हैं और बोले बात तीर्थ में जाके बैठ जाए भजन करो सोचते बीच बीच में बोलते हैं कुछ काम के तो रहे नहीं काम करते कमाते कुछ घर का काम करते संभालते तक तो काम की चीज थी अब ये निकम्मे सब बीच बीच में अपनी हुकूमत चलाते हैं बाबू लिए माइक पना लगाते हटाओ इनको यहां से तो अच्छी भाषा में कहते हैं बोले अब खर्च नहीं दिया करेंगे इंतजाम सारा कर देंगे आप तीर्थ में बैठो तुम छोड़ो हमारा किसी तरह से भरो ऐसा होने पर भी हम भरना नहीं चाहते इसका अर्थ क्या है ये मोह बंधन है ये प्रेम के नाम पर मोह बंधन है तो बंधन से आदमी जहां प्रेम नाम ही लेता है वहां भी छोड़ना नहीं चाहता प्रेम बंधन ऐसा ही प्रिय होता है तो भगवान को भी प्रेम बंधन प्रिय है तो स्वयं आकर के भोगते हैं स्वयं अपने को बंधन में डालते हैं और उनको बांध लेते हैं उनको कभी मुक्त नहीं करते प्रेमियों को मुक्त कभी नहीं करते मुक्त करना चाहते नहीं और प्रेमी भी चाहते नहीं तो ये ब्रजमंडल में भगवान स्वयं ये ब्रजराज नंदन बनकर नित्य नई नई क्रीड़ा करते हुए खेल करते हुए ये ब्रजदासी भक्तों को आनंद दे रहे हैं प्रेमियों को आनंद दे रहे हैं और केवल यहाँ के ये मानव जाति के प्राणियों को ही नहीं पशु पक्षी कीट पतंग यहाँ के वृक्ष लता यहाँ की भूमि सभी मानव इस आनंद की लीला में बह रहे हैं और सभी मानव अपने को भूल चुके ये शोक मोह दुख दैन्य विषाद इत्यादि भय ये जो है ना ये तो आनंद आस्वादन का विरोधी वर्ग है ये जहां भगवान का ये मधुर मधुर लीला समागम होता है यहां ये सब यहां हरे रहते हैं यहाँ आनंद विरोधी वर्ग नहीं आता तो शोक मोह इत्यादि वहां नहीं आते वहां परम तो परमानंद में सब निमग्न रहते हैं सागर में तो यहाँ हास्य लास्य नृत्य कबलब नवीन नवीन प्रेमाकांक्षा प्रथा स्वादन ये प्रेमोन्मत्तता मुग्धता ये सब जो आनंदवर्धक सब पदार्थ हैं यही वहां पर परिव्याप्त तो रहते ठहरे रहते और पर जो बहुमुख जीव हैं भोगी जीव उनको विषाद लगा रहता है क्या करें बड़ी आफत है चिंता लगी रहती है शोक होता है मोह होता है वो रात भी चिंता चिंता प्रकट करते हैं ये सिद्ध करता है कि भगवत प्रेम का अभाव है भगवत प्रेम का आनंद जहाँ पर है वहाँ पर ये चीजें आ नहीं सकती सूर्य के प्रकाश में अंधकार आ नहीं सकता हिमालय में गर्मी आ नहीं सकती इसी प्रकार से जहाँ ये प्रेम पूंजीभूत है वहाँ पर ये चीजें नहीं आती ये आती है तो समझना चाहिए कि हम शोक मोह विषाद गर्म के ही दास हैं गुलाम हैं प्रेम का हमारे अंदर अभी तक स्फुरन हुआ नहीं ये आनंद आया नहीं तो बजने के खेल क्या है हास्य सब हंसते हैं नाचते हैं कूदते हैं नई नई प्रेमाकांक्षा पैदा होती है रसास्वादन होता है और रस का परमिशन भी होता है बांध के रस करस परोसते हैं यहाँ पर सभी सुख परोसते हैं क्या अरे कहीं कोई अमृत अमित का कहीं भोज हो तो वहां क्या पैसा जाएगा अमृत ही पैसा जाएगा ना वहां तो जहर है ही नहीं तो वहां प्रेम राज्य में आनंद रस ही परसा जाता है परोसा जाता है उसी का परिवेशन होता है और आनंद में सब मस्त रहते हैं मुग्ध रहते हैं ये जो कूड़ा करकट है वर्जना राशि कूड़ा करकट ये ये भयगन्य विषाद शोक का ये यह आनंद के उस साम्राज्य में निवेश कर का स्पर्श करने का भी उनका अधिकार नहीं तो लेकिन वही आनंदमय श्री विग्रह वही आनंदमय लीला ब्रज के थोड़ी दूर पर मथुरा में बैठे हुए बैरमुख शिरोमण कंस के लिए विषाद और उद्वेग का कारण बन गए की जितनी जितनी वो लीलाएं सुनता है उतना उतना ही उसका धीरज छूटता है उतना उतना ही उसका विषाद होता है और उतनी उतनी मानो उसकी विषाद की आग में आहुतियां पड़ती जितनी प्रशंसा सुनी उतनी रोने लगा वो जितनी लीला सुनी उतना उसके मन में क्षोभ हुआ वो समझता है तेरे राम राम मेरा शत्रु बन रहा है अब ये मुझे मार देगा मुझे मार देगा तो पूछना तो बच्चा सुर बच्चासुर सुर कितने को भेजा कहता हमने कितने को भेजा तो किसी ने आकर के भी समाचार नहीं दिया कि हमने उसको मार दिया उन्हीं के मरने का समाचार मिला सभी मानव अपने जीवन से नित्य विदा लेकर यहां से रवाना हुए कि क्या मेरे भी जीवन की शेष भूमिका आ गई और मेरे बड़े भारी ये महाबल बड़े पराक्रमी पराक्रांत से सब मेरे पार्षद जिनके प्रताप से बल से पराक्रम से स्वर्ग भी कांपता है ये क्या सभी के सभी इस छोटे से मनियों से गोप बालक के से त्रास तो हो गए हो गए क्या सभी की शक्ति कुंठित हो गई इस प्रकार से चिंता करता रहता तो चाणूर मिस्टिक केसी ये सब खास खास सरदार रहे इसके जितने अधिक दुष्ट उतने अधिक इनके प्यारे मंत्री जो बुरी से बुरी सलाह दे वो अधिक प्यार जो थोड़ी सी बीच में बात कह दे माल्यवंत को रावण ने लात मार दी अच्छी सलाह दी विभूषण को लात मार के निकाल दिया तो ये खड़े को अच्छी बात नहीं सुहाती दुष्टों को तो सभ्यता की बात कहे तो वो खारा लगता है बुरा लगता है तो ये केशी और ये चांद और मिस्टी के सब के सब दुष्टुम के सरदार ये सब के सब उसके पास गए बोले क्या आपकी मार देंगे आपकी मार देंगे क्या आपकी उन लोगों ने सावधानी की हुई आपकी मार देंगे ये तो सामान्य है, है क्या कोई बात नहीं तो अगासुर को जब बुलाया अगसुर गया अगासुर जब आया तो लोगों ने कहा कि चाहू मुश्किल बाजी नहीं अब की हमने ऐसे को बुलाया है जो मार ही देगा तो बात आई चुकी कई समय कई समय कहा कि देखो भाई इसने तुम्हारी बहन को मार दिया और भाई को मार दिया तुम्हारे अंदर बदला लेने की बात जागी बनी जागी तुम इतने बड़े बहादुर भी और बहन को मार दिया भाई को मार दिया सूर्पन काटे तो केवल नाक कान काटे उसी पर कितना बाजुद्ध हो गया और उनकी देवता उवता की बात थी श्री राम महाराजा ने हारकत हो गई और अब तुम लोग इतने बहादुर दूर होकर के तुम लोग ऐसे बैठे हो भाई को मार दिया बहन को मार दिया पता सोचे कहा जल्दी जाओ अरे तुम्हारी इतनी शक्ति इतनी ताकत तो फिर ममता से बोला बोले भैया देख तुम तो हमारे अपने हो ना और विपत्ति में अपनी की सहायता की जाती है अब विपत्ति में सहायता भी दो तरह की होती है बुरी सलाह दे कि विपत्ति में सहायता करे वो खुद भी मरेगा उसको भी मारेगा विपत्ति में सहायता क्या है कि सदबुद्धि किसी को दे ये तो विपत्ति में असली सहायता है और पाप बुद्धि में उसका और ज्यादा प्रवेश करवा दे ये तो गिरते हुए को धक्का मारना है उठाना नहीं आई का बिचारा पीछे से लात और मार दी तो इन लोगों ने बस यही सब करते थे तो अवासी नहीं था ये मछुआरा होगा शाबाशी पा करके और कंस के प्रति प्रेम ज्यादा बोले कोई बात नहीं तुम कंस महाराज अब डरो मत अब हम जाते हैं जाते ही उसको क्या छोटा सा बच्चा है और हमारा तो बल आप जानते हो तो उस जीविका उससे डरते हमसे आने के लोग सुकून डरते हैं कि आप भी डर रहे तो जल्दी ये बड़ा बड़ा भारी पराक्रम गल्प तो था तो ये जब आकाश मार्ग से हुआ तो भूलता सब रात दिन देखा करते थे बेचारे कौन जाता है क्या होता है उनको तो जल्दी कहीं से मरे जल्दी उनका काम हो तब कहीं शांति मिले तो इन्होंने देखा देवता उन्हें करे तो आभास जा रहा है कि देवता सारे के सारे जड़वत हो गए अब उनको भगवान ने विश्वास भी और अविश्वास भी स्वार्थी को पूरा विश्वास नहीं होता मेरे अमुक अमुक कि देवता का जप करो उसका तो कर लिया कुछ हुआ नहीं शायद नहीं हुआ दूसरे को कर दूसरे का करेंगे दूसरा तीसरा जैसा बदलता जाता काम कहीं होता ही नहीं अविश्वास विश्वास काम नहीं करने देता तो देवता ने देखा ही कहीं हमारी ओर में चल पड़ा देवताओं ने तो बरसा छीन लगा था उनका अंदर काल देख लगा ऊपर की तो देवता लोग भागे भाग करके और बादलों की आड़ में छिप गए छिप करके गुरु से देखने लगे अब देवता जब बहुत व्याकुल हो गए तो विष्णु जी ने कहा डरती के हो भगवान है बोले भगवान तो है तो पहले हमने माँ बाबा का भगवान तब तो तक उसको मारेंगे फिर क्या होगा तो देवता बड़े बड़े विपन्न हुए हुए लगे कि महाराज देखो मालूम होता आज तक तुम लीला देखते थे बड़ा आनंद आता था अभी अभ्यास जा रहा कहीं हमारी दुष्ट लीला देखना बंद न हो जाए शंका हो गई अब ये उसने देखा अगासुर में लीला खेलते हुए उनको तो उनका उसका गुस्सा और बना बंधु कैसा खेल रहा है मेरे भी खेल रहा मैंने कोई डर इसके समीप ही नहीं इसके अंदर कोई कमजोरी नहीं दीनता है दीनता कैसे आती यहाँ तो आ नहीं सकती तो आनंद में डर नहीं आता तो उसने देखा कि तो तो दांत पीसने लगा बोले जल्दी मारे किसी दिन कहीं उनको न मार दे बकासुर तो तुम मार दिया डर भी आया फिर सोचा कोई बात नहीं देखा वो तो बंशी बजा रहा है ये बंशी बजा रहा है तो देखने में अच्छा से मालूम होता है और तमाम बच्चे इसको घेरे हुए तो यही है उसने ऊपर से ही सुन लिया देख लिया और फिर उसने बातें सुन बैठना कैसे ने बता दिया था कि देखो भाई तुमको पहचानने के बाद बताते हैं ये लड़का इतना सुंदर है कि ब्रज के सारे नर नारी ये नहीं पशु पक्षी भी उससे प्रेम करते हैं और उसका रूप जो है ऐसा दिव्य है ऐसा तेज तेजों में है कि जहां जाता है उजाला फैला देता है है तो सांवला पर फैलाता है प्रकाश उज्ज्वल जो जो डूबे श्याम रंग किंतु उज्ज्वल हो बरिहारी व प्रेम की वचन समझे कोई जो जो डूबे श्याम रंग किंतु उज्ज्वल हो ये ऐसा सुंदर सांवला रंग है कि इसमें जब तक न डूबे तब तक के तो आदमी का मन काला रहता है जीवन काला रहता है कलुषित रहता है और जब श्याम सरोवर में डूब गया तो अत्यंत उज्जवल हो जाता है ये विपरीत तो कंस ने बता दिया कि देखो वो जहां जाता है उज्वाला फैल जाता है और तो जहां खड़ा रहता है तमाम पशु पक्षी उसी की ओर ताकते हैं और तमाम मरनारी नारी उसी की ओर देखते हैं तो तुम पहचान लेना इससे नहीं तो बच्चे बच्चे से देख सके आप और बोलो जरा सा मीला मीला सा है सुना हमने देखा तो नहीं नंद तो उसके तो ध्यानस्थ हो गया तीन तरह से भगवान का ध्यान होता है लोग पूछा करते हैं कैसे हो या तो भय से होता है या आवश्यकता से होता है और या प्रेम से होता है तीनोत्तरोत्तर अधिक अधिक श्रेष्ठ है कंस को भय से ये रोज सुनता रोज सुनता आज उसने ऐसे मारा और ऐसा बोले कैसे कपड़े पहन रखे थे ऐसे पहन रखे थे तो सिर पर क्या लगा रखा था तो रोज रोज आकर के इसके गुप्त कर झांकी का वर्णन करते वो भी यहां लोग सर रोज वर्णन करें भगवान का और ये सुन सुन करके इसका ये चित्त जो है उसी उसी भगवान के श्री वगैरह और ये संलग्न होता जाता एकाग्र होता जाता भय से तो ये रूप इसके निम्न बैठ गए तो ये पहचान बताने लगा सबसे अपने आप ही कि ये कन्हैया ऐसा है तो पहचान नहीं तो उसने देखा रासुर ने तो पहचान गया बोलिए तो जो कुछ उसने कंस ने कहा था ठीक वही बात कि आंख से दिख रहे उसको पहचानना कोई बात नहीं तो अपने आप ही अपने को पहचाना लेता है तो जहां ये खैर बोले मेरी भी तो आंख लग रही है इधर अगासुर तो सोचता है कि कहीं से कहता था कि जो देखता है उसके यहां चली जाती नीचे तो ऊपर से देखता हूँ दूर से तो बड़ा प्यारा लगता है बड़ा अच्छा लगता है वासी के मन में भी अब जिसमें अभी भरा और मैंने कहा जो पाप मूर्ति उसकी आंखें में क्षण भर के लिए उधर लगी फिर मन में ये प्रतिशोध की भावना आई अरे इसी इसी ने मेरे भाई को मारा इसी ने मेरी बहन को मारा तो आज इस बालक का मेरे हाथ से छुटकारा नहीं जब इसी का में जितने भी इसके साथ खेल खेल रहे होंगे उन सारे बच्चों को आज मैं डालूंगा एक बच्चा भी जिंदा नहीं रहेगा और आज मैं मेरे भाई और मेरी बहन की आत्मा के तृप्ति के लिए तर्पण करूंगा आज इनके खून से मैं यही उनके प्रति मेरा सद्भाव प्रकट करना होगा और जब ये मर जाएगा तो ब्रजवासी सब मर जाएंगे अपने आप क्योंकि हमने देख लिया ना ये रस्सी का दिलाए भी तो ये उनका प्राण प्राण है जहाँ प्राण गए वो गिरा तो अपने आप ही आज कंस का सारा कंटक दूर हो जाएगा कंस का कंटक है ये वृंदावन तो वृंदावन वासियों के प्राण है ये ये श्याम सुंदर ये कन्हैया ये बालक उस बालक का जहां निधन हुआ कि सारा विजय वृंदावन नष्ट हो जाएगा और कंस का सारा का सारा कंटन दूर हो जाएगा अब ये शेख चिल्ली की बात है ये बहुमुख लोग जो हैं बहुमुख लोग ये भगवान का तो याद नहीं करते ये लीला चिंतन तो होता नहीं क्या करें तो बेचंदन का जो सो सो भी बोले अब की ये माल खरीदेंगे और इसमें इतना नफा होगा तो ऐसा मकान बनाएंगे जमीन खरीदेंगे मालूम क्या क्या भोगों की चिंता करते रहते हैं सोए भी घर में मंदिर में जाते हैं वही चिंता कहीं लोभ कहीं काम कहीं क्रोध ये तीन चीज उनके पीछे दैनिक जीवों के पीछे तीन चीजें रहती है केवलम नरकस्यदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रिय तथा लोग शेष हो भी पूजा करते हुए भी नाम जपते हुए भी इनका मन आश्रय करता है किसी का तो यहाँ ये क्रोध में भरा तो क्रोध का परिणाम होता है हिंसा क्रोध का परिणाम हिंसा होता है तो इसके मन में हिंसा जाग उठी और इसलिए ये सारे सारे व्यर्थ है ये नहीं अनर्थ में अर्थ की जो मनोरथ है हमारे मन का जो चिंतन किसी फल को उत्पन्न न करे वो तो है व्यर्थ निवृत तो जो बुरा फल उत्पन्न करे वो है अनर्थ निवृत तो हम जितनी जितनी भी क्रोध के काम के लोभ के वश में होकर पाप चिंताएं करती हैं ये सब कुछ हमारे अनर्थ मनोरथ हैं हमारे हमें लड़कों में ले जाने वाले हैं वो मनोरथ भी तो इसने अनर्थ मनोरथ किए इस अगासुरी अनर्थ मनोरथ के मन मन ये उसने श्रीकृष्ण की हिंसा की श्रीकृष्ण के सखाओं की हिंसा की श्रीकृष्ण के भक्तों की प्रेमी की हिंसा की उनके ब्रजवासियों की हिंसा की हिंसा परायण हिंसा न हो गया तो ये जब मनुष्य में हिंसा जाग उठती है उस समय विवेक के नष्ट हो जाता है पहले ही उसके अंदर राक्षस भाव और ज्यादा भर जाता है